जिज्ञासा समाधान में पिछली बार जो गिद्धों के बारे में बात रखी थी उसमें एक संशोधन है जो कि सत्यव्रत जी ने बताया और वो ठीक है गिद्धों के लुप्त होने का कारण इसका एक मुख्य कारण है जानवरों को पालतू जानवरों को मादा जानवरों को दूध अधिक देने के लिए आजकल सूची लगाई जाती है इंजेक्शन लगाते हैं टीका लगाते हैं और उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है बोला तो ऑक्सीटोसिन ही जाता है लेकिन मेरी समझ से उसमें दूसरा हार्मोन भी होना चाहिए जी हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनमें विशिष्ट रासायनिक तत्वों का बहुत सहयोग होता है उसमें से आजकल जो एक शब्द प्रचलित है हार्मोन कुछ ऐसे यौगिकों से युक्त रसायनों से युक्त स्राव होते हैं जो शरीर बनाता है और उनको यथा समय छोड़ता है कोई हार्मोन कभी कम होता है कोई अधिक होता है ऐसे अनेक हार्मोन हमारे शरीर में काम करते हैं उन हार्मोनों से अलग अलग क्रियाएं होती हैं ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन दुग्ध वलयों वलियों को यानी मिल्क एल्वुलीज होती हैं वलिया यानी कोष्ठक जैसे एक छोटे छोटे से पुट होते हैं संपुट होते हैं जिनमें दूध भरा रहता है स्तन में अंदर छोटे छोटे छोटे छोटे स्थान होते हैं छोटे छोटे जिनमें दूध भरता है भरा हुआ रहता है इकट्ठा नहीं रहता है जैसे कि आप यूं समझें संतरा या मौसमी होती है उसमें रस भरा रहता है लेकिन कैसा रहता है वो छोटे छोटे से एक लंबे लंबे से अलग अलग होते हैं पॉकेट होते हैं संपुट होते हैं उसमें वो बंद रहता है ऐसे ही स्तनों में भी दूध कहीं एक साथ बनता हो आता हो ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा अलग जगह बनता है और वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा रहता है अलग अलग ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उन संपुटों की कोशिकाओं को जो भित्ति होती है उसको संकुचित करता है तो संकुचित करने से जितना भी दूध होता है वो, वो बाहर आ जाता है एक स्वाभाविक जैसे दूध दूते हैं तो उसमें सारा दूध आ जाता हो ऐसा नहीं होता कुछ दूध रह भी जाता है लेकिन जब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं गाय को भैंस को <clears throat> बकरी को तब अधिक ऑक्सीटोसिन जाने से वो कोशिकाएं मांसपेशियां जो संपुट की हैं वो अधिक सुकुचित होती हैं ये संकोच करने का काम करता है इससे दूध बाहर निकल जाता है पूरा अधिकांश निकल जाता है वैसे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्वभावतः भी मादा शरीर में उत्पन्न होता है जब दूध बनता है दूध बनने के लिए और दूध निकालने के लिए स्वभावतः बनता ही है सब, शरीरों में मादा स्त्री शरीरों में जो भी अभी स्तन प्रसूता है बच्चा हो गया और दूध स्तनों में है अभी दूध पिलाना है बच्चे को सब में सभी गाय भैंसों में मनुष्यों में भी सब में ये हार्मोन निकलता है <clears throat> इसके साथ एक हार्मोन और होता है luteotropin hormone L T H बोलते हैं संक्षेप से luteotrophin hormone L T H ये हार्मोन दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है इससे दूध अधिक बनता है जिन मादाओं में दूध कम आता है तो उसका एक कारण इस हार्मोन की कमी भी होता है तो चिकित्सा कराते हैं तो चिकित्सक उस हार्मोन को बाहर से दे देते हैं उनको तो दुग्ध तो उत्पादन करने वाली कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं अधिक सक्रिय होती हैं जो सुस्त हैं सक्रिय होती हैं <clears throat> जैसे शरीर में आपने इंसुलिन बहुत सुना होगा मधुमेह के अंदर डायबिटीज में इंसुलिन ये भी एक हार्मोन है और वो मीठे को यानी ग्लूकोज को पचाने में एक सहायता सहायक हार्मोन है जब शरीर नहीं बना पाता या कम बनाता है तो बाहर से दे देते हैं गोली से देते हैं इंजेक्शन से देते हैं तो वो करने लग जाता है काम <clears throat> ऐसे ही यदि दुग्ध उत्पादन कम हो रहा हो बच्चे को पूरा नहीं पड़ रहा हो तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है औषधि दी जाती है वो हार्मोन बाहर से दे देते हैं पूर्ति कर देते हैं और ऑक्सीटोसिन उन संपुटकों को संकुचित करता है तो ये जो इंजेक्शन है मेरे को पता नहीं उसमें और क्या डालते हैं लेकिन ऑक्सीटोसिन के नाम से प्रसिद्ध है और उसमें एलटीएच हार्मोन भी होना चाहिए ताकि दूध अधिक बने और अधिक संकुचित हो तो आजकल प्राय ये लगाया जाता है दूध निकालने से कुछ समय पहले स्वभावतः तो क्या होता है आप देखते होंगे गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो पहले बछड़े बछड़ी को छोड़ते हैं उसके बाद दूध आता है पहले नहीं आता है कम रहता है यानी इससे सहायता मिलती है तो स्तनों के अग्रभाग में संवेदक तंत्रिकाएं रहती हैं जब बछड़ा उनको चूसता है मुंह लगाता है वो एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है तो वो वहां की कोशिकाएं तंत्रिकाएं उत्तेजित होती हैं और उससे ये हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं सदा हर समय नहीं रहता है नहीं तो कभी भी दूध निकलेगा बच्चा जब स्तन को चूसता है उस काल में संकेत जाते हैं मस्तिष्क को और वहां से फिर संकेत मिलता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक बनने लग जाता है बनने लग जाता है और छोड़ देता है शरीर उसको इस काम के लिए उसी समय छोड़ता है उससे अधिक संकुचित होता है और दूध आता है वैसे भी स्तन आदि को दूध देने से दूध लेने से पहले जो धोते हैं करते हैं और पोसाना बोलते हैं जिसको तो उससे जो दूध निकालते हैं उनको पता है इस प्रक्रिया का तो उसके बाद स्तनों में दूध आने लग जाता है फिर दूध होने लगता है इसी तरह कई बार कहते हैं कि ये गाय है जो दूध चढ़ा जाती है ऊपर ऐसा भी बोलते हैं कोई कोई गाय या तो उसको डरा दो धमका दो मार दो चौंक जाए किसी कारण से अजनबी आ जाए तो बीच में क्या बोलते हैं हड़क जाती है भड़क जाती है हड़क हडक जाती है गांव का शब्द है बिदक जाती है और उसके साथ कहते हैं कि दूध ऊपर चढ़ा जाती है फिर नहीं देती वो दूध और दूध तो है जो है अंदर जितना है वो हार्मोन नहीं निकलता है हार्मोन बंद हो जाता है तो वो संकुचित ही नहीं होती तो आ नहीं पाता है इत्यादि ये बहुत सारे कारण है तो इन पशुओं को ये ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है उनके शरीर में वो रहता है जब वो अधिक मात्रा में संचित रहता है मांसपेशियों में जब वो मर जाते हैं उनके मांस को गिद्ध लोग खा, गिद्ध खाते थे वो उनके लिए हानिकारक हो गया गिद्धों के लिए वो हानिकारक हो गया तो वो एक मुख्य कारण माना जाता है और भी हो सकता है और भी कारण हो तो ये तो आपकी जानकारी के लिए संशोधन उसका हाँ ग्रामीण पशु जंगली पशु मारते तो तो उनको भी खाते होंगे उनको भी खाते थे और इसको भी खाते थे दोनों को खाते थे दूसरा एक कुछ वायरस या बैक्टीरिया वायरस कुछ माना जाता है वो भी शायद इनके फैल गया था ऐसा रोग जिसको कि प्रतिरोध क्षमता है मुर्गियों में था वो बर्ड फ्लू वाली वो भी है इनमें भी मेरे ख्याल से ऐसा था हाँ आप बोलो और क्या बस यही कह रहा था कि जो जंगली जीव अपने वहां रहते हाँ। जंगल में भी कुछ तो बचे हुए होंगे या पता नहीं क्या कारण बना होगा अधिकतर उनको यहाँ मिलता होगा जंगल में भी वैसे तो खाते हैं मिलते हैं गिद्धों को खाने को मिल जाता है शेर आदि छोड़ते हैं उसको लेकिन फिर भी मान लो वहां नहीं, नहीं मिल रहा इधर इधर तो रहता ही था ना वहाँ भरताना भरताना भरताना नहीं आचार्य जी का गांव कौन सा है जखराणा जखराणा नारनौल के पास में जखराणा गांव तो वहां बताते हैं पहले हम लोग वहां से रेत लेने के लिए गए थे बालू तो अभयदेव जी बताते थे पहले यहाँ इलाका था यहाँ गिद्ध गिद्ध रहते थे गिद्ध गिद्ध गांव के बाहर टीले जैसे होते हैं जैसे यहाँ भी रहते थे ऐसी बालू रेत बहुत है उधर जैसी यहाँ की जमीन है ऐसी और वहां यू ऊंचे नीचे तो गिद्ध लोग यू ही पड़े रहते थे खूब रहते थे कारण था कि गांव वाले जो पशु मरता था उधर छोड़ करके आते थे गांव से बाहर दूर और उसको गिद्ध लोग खाते थे गिद्ध खाते थे और वहीं रहते थे ऐसा बाद में अब कहते हैं वहां पर मिलते ही नहीं है अभी दूसरे पशु पक्षी खाते हैं वो अलग बात है आप भी कुछ कह रहे थे मतलब हाँ वहाँ भी समाप्त हो गया आजकल नहीं आते आपके यहाँ इंजेक्शन नहीं लगाते हैं गांव में बिल्कुल नहीं है क्या पता अच्छा तो एक, एक हो, हो सकता है अन्य भी कारण हो उसका कह नहीं सकते <laughs> ये एक से नहीं होता तो दूसरा कोई ना कोई कारण तो होगा ही ऐसा ऑक्सीटोजिन जो दवाई आ औषधि है अभी वो उसके ऊपर प्रतिबंध मतलब केवल पशु वैद्य के द्वारा लिखवाने पर ही दिया जाता है क्योंकि इस ऑक्सीटोन से लड़कियों को भी दी जा रही है जो जल्दी प्री मैचुरेशन थोड़ा सा दी जा रही थी इसलिए इसके ऊपर वो भी है ये हार्मोन तो किसी को भी देते हैं चिकित्सा चिकित्सक देता है वहां तक ठीक है और कृत्रिम रूप से दिया जाता है तो वो गलत होता है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि नहीं हो रही होती है लड़के हों उनमें पुरुषों के लक्षण नहीं आ रहे हों लड़कियां उनमें स्त्री के लक्षण नहीं आ रहे हों कम विकास हो रहा हो तो वो हार्मोन की कमी के कारण होता है तो चिकित्सक उन हार्मोन के इंजेक्शन गोलियां आदि जो भी होता है वो पहुंचाते हैं तो उससे वो बढ़ते हैं और उनमें काफी सुधार हो भी जाता है अनेक बार लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है जो ये शक्ति नंदन जी कह रहे हैं कि बच्चियों को जल्दी बड़ा करने के लिए जो देह व्यापार में बच्चियों को डालते हैं वो बच्चियों को जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं छोटी बच्चियों को कहीं से भी अपहरण करते हैं ले आते हैं खरीद के लाते हैं ये सब बहुत ज्यादा चलता है आज भी चलता है इधर से उधर आते हैं और फिर वो छोटी बच्चियों को जल्दी बड़ा करना होता है उनको तो ये इंजेक्शन आदि भी लगाते हैं ये भी चलता है उसके लिए भी और वैसे भी शायद प्रतिबंध अगर लग गया हो पर वैसे भी गैर कानूनी भी बहुत चलता है लेकिन अभी गिद्ध दिखने लग गए हैं वापस ऐसा कुछ कुछ आने लग गए हैं और दूसरी जगह कुछ बचे हुए थे कुछ वायरस का भी था इसमें कारण जिसके कारण से वो रोग इनमें फैल गया था अलवर में जिस पुस्तक में अलवर में तो खैर था ही अलवर में तो आप वो कह रहे हो परोपकारी में भी जो लेख आया जो बच्चियों को इंजेक्शन लगाने वाली बात थी वो वहां पकड़ा गया था बहुत अलवर में राजस्थान में अलवर जिला है कुछ गांव ऐसे थे देह व्यापार वहां होता था तो वहां इस तरह की गतिविधियां थी वहां पर दूसरा अगला प्रश्न शरीर से संबंधित ही है शरीर को हम जड़ प्रकृति से बना हुआ कहते हैं शरीर जड़ प्रकृति से बना हुआ है इसलिए इसको जड़ कहते हैं ठीक है परंतु भ्रूण से लेकर बच्चे तक और बच्चे से लेकर युवा तक शरीर बढ़ता ही रहता है तो क्या जड़ वस्तु में बढ़ने का सामर्थ्य है क्या जड़ वस्तु बढ़ सकती है शंका बनी रहती है कि शरीर में कुछ कुछ चेतनता भी है ठीक है यानी पीछे क्या भाव है इनका कि शरीर बढ़ रहा है तो चेतनता तो उसमें होनी चाहिए जड़ वस्तु तो बढ़ती नहीं है जड़ वस्तु तो नहीं बढ़ती है ना जैसे लोहा है ये नहीं बढ़ेगा चादर है ये नहीं बढ़ेगी लेकिन शरीर तो बढ़ता है पहाड़ भी बढ़ता है यूं तो ठीक है लेकिन पहाड़ कैसे बढ़ते हैं पहाड़ पहाड़ बढ़ने का कारण वो अलग तरह का बढ़ना है दो तरह से बढ़ना है एक तो अंदर से बढ़ना होता है एक बाहर से बढ़ना होता है नहीं तो रेगिस्तान में टीवे भी बढ़ते हैं रेत आती है उड़ करके इकट्ठी होती है वो भी बढ़ना होता है हाँ, प्रवचन करता हमारे आर्य समाज के इस बात को बहुत बोलते हैं कि मनुष्य जिस चीज को बनाता है वो भी बढ़ती हैं जैसे भवन बढ़ता है बनाते हैं बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं ऊपर ऊपर ऊपर बड़ा बनता जाता है और एक परमात्मा भी बनाता है परमात्मा भी बढ़ाता है दोनों के बढ़ाने में अंतर होता है आप बोलते हैं प्रवचनों में प्रधान जी बोलते हैं और भी कई प्रवचन करता हर समाज में कई बार बोलते हैं कि दोनों के बढ़ाने में बढ़ने में क्या अंतर होता है तो मनुष्य के द्वारा जो चीज बनती है बढ़ती है वो कैसी होती है बाहर से ऊपर से बढ़ती है हम बाहर से लेप लगाएंगे प्लास्टर लगाएंगे ऊपर ईंट पे ईंट चुनेंगे ऐसे यानी बाहर से होगी ये ऊपर है तो नीचे से कुछ कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा लेकिन ईश्वर के द्वारा जो निर्मित चीजें होती हैं वो अंदर से बढ़ती हैं अब जैसे शरीर बढ़ता है बचपन से तो ऐसा थोड़ा है कि ईट पे ईट बाहर बाहर रखते चले गए और ऐसे बढ़ता है वो अंदर से ही पूरा ऐसे बढ़ता है वृक्ष आदि है बाकी सारे शरीर हैं ये अंतर बताया जाता है तो प्रश्न पे आते हैं इनका मानना है इनका मन में भाव है कि शरीर बढ़ता है तो कुछ चेतनता तो शरीर में भी मानवी चाहिए यद्यपि इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये तो मन में होगा ही कि आत्मा से भिन्न शरीर है ये ये तो मानते ही हैं माता जी का प्रश्न है तो शरीर से भिन्न आत्मा है आत्मा चेतन है ये मानते हुए भी ये प्रश्न इस पृष्ठभूमि में नहीं जो ये मानते हो कि शरीर ही चेतन है ऐसा भी मानते हैं लोग बाग यानी चेतन तत्व आत्मा को जो अलग से नहीं मानते केवल शरीर को ही मानते हैं वो कुछ कुछ नहीं सब कुछ इसी को ही मानते हैं चेतन उनका प्रश्न होता एक अलग बात थी लेकिन उनको ये पता है कि शरीर से भिन्न चेतन आत्मा अलग है वो चेतना एक संपूर्ण चेतना है ये मानते हुए भी मन में प्रश्न है कि शरीर चूंकि बढ़ता है तो पूरी चेतनता तो वो कह भी नहीं सकती उनको स्वीकार भी नहीं होगा कि आत्मा की तरह से चेतन हो लेकिन कुछ चेतनता जो इन्होंने लिखा कुछ कुछ चेतनता तो माननी चाहिए जैसे ये शरीर बढ़ता है तो बोले ये शंका बनी रहती है तो ऐसा क्यों लगता है कि शरीर में थोड़ी थोड़ी सी चेतनता हो थोड़ी थोड़ी क्योंकि जड़ भी है उसमें जड़ के भी लक्षण देखते हैं और जड़ तो मान ही रहे पढ़ रखा है कि प्रकृति से बना है तो जड़ है तो इसकी विवेचना के लिए अब इसको हम देखें उत्तर दें तो पहले हम ये निर्धारित कर लें कि चेतन के लक्षण क्या है चेतन किसे कहते हैं चेतन किसे कहते हैं चेतन के लक्षण क्या है भारतीय दर्शनों की दृष्टि से और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से वो भी जड़ जगत और जीव जगत दो विभाजन तो करते ही है संसार को समझने के लिए बताने के लिए जीव जगत और जड़ जगत ठीक है तो भारतीय दर्शनों की दृष्टि से चेतन के क्या लक्षण है इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ठीक है सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ये छह बताए ये न्याय दर्शन में बताए गए और चेतनता है यहां पर उसके लिए वैशेषिक में भी बताया गया इसी में और कुछ लक्षण जोड़े गए हैं तो इन लक्षणों में बढ़ना ये लक्षण तो नहीं है चेतन जो शुद्ध चेतन तत्व है उसमें ये बढ़ना लक्षण नहीं है और सिद्धांतता हम जो त्रैतवाद को मानते हैं उसमें आत्मा और परमात्मा ये दोनों तत्व नित्य हैं और जो नित्य तत्व होता है वो बढ़ता नहीं है परिवर्तन भी नहीं होता और इस तरह से बढ़ना उसमें नहीं घटता यदि वो बढ़ रहा है तो नित्य नहीं हो सकता जो नित्य चीज होती है वो वैसी की वैसी रहती है उसमें घटना बढ़ना फूलना सिकुड़ना इत्यादि ये जो परिवर्तन है परिणमन है ये नहीं होता तो दो दृष्टि से देखा एक तो ये जो लक्षण बताए गए इसमें ऐसे बढ़ना लक्षण नहीं कहा गया चेतन का लक्षण जो है और दूसरा ये तर्क युक्ति हम कर रहे हैं कि जिसे हम चेतन मानते हैं आत्मा और परमात्मा उसमें ये वृद्धि धर्म कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है और तर्क क्या देखेंगे कि यदि वो बढ़ते तो वो नित्य नहीं हो सकते थे जिसमें वृद्धि होती है घटा घटा होता है घटता बढ़ता है वो नित्य नहीं हो सकता दूसरे शब्दों में वो अनित्य होता है इस दृष्टि से ये जो शरीर है इसका बढ़ना इस शरीर की चेतनता का लक्षण नहीं है ये प्रश्न इनके मन में क्यों उठा शंका क्यों उठी कि शरीर का घटना बढ़ना हो रहा है पत्थर आदि में तो नहीं होता लोहे में तो नहीं होता जिसको हम नितान जड़ वस्तु कहते हैं उसमें तो नहीं होता ये भवन तो नहीं बढ़ता घटता तो इसमें घटना बढ़ना हो रहा है इसलिए इसको चेतन का लक्षण समझने की शंका हो सकती है और ये चूंकि जीव जगत में ही होता है जीव जगत में जिसको हम शरीर सहित चेतनता बोलते हैं वहां चूंकि ये लक्षित होता है इसलिए इसमें चेतनता का प्रश्न शंका उठ गया कि इसमें चेतन हो, होना चाहिए तो पहली बात तो अपने दर्शनों की दृष्टि से शुद्ध चेतन तत्व का ये लक्षण नहीं है जो बढ़ता हो इस दृष्टि से शरीर भले ही बढ़ रहा है इससे उसकी चेतनता सिद्ध नहीं होती लेकिन लेकिन आगे देखिए कि ये बढ़ना कहां होता है इस तरह का बढ़ना भ्रूण से बच्चा युवा वृद्ध बढ़ना और घटना ये कहां पर होता है ये टेबल कुर्सी इन चीजों में तो नहीं होता है ठीक है बारिश हो गई दरवाजा थोड़ा फूल गया फैल गया ये इतना सा ये एक अलग बात है लेकिन इस तरह से बढ़ना जैसे हम बढ़ते हैं शरीर बढ़ते हैं ऐसा तो वहां नहीं होता तो ये बढ़ना कहा होता है जहां चेतन साथ में होता है ऐसी रचना जो परमात्मा की व्यवस्था से हुई है जहां जब तक उसमें चेतन तत्व तो होता है इन शरीरों में बढ़ना घटना होता है लेकिन इसमें भी बढ़ना घटना कब तक होता है जब तक इसमें चेतना होती है आत्मा होती है छोटा बच्चा छोटा शिशु मर गया है उसको हमने सुरक्षित रख दिया शीतल करके डीप फ्रिज के अंदर अब शरीर तो है लेकिन वो बढ़ेगा नहीं क्यों चेतनता नहीं है तो यद्यपि शरीर घटता बढ़ता है जो कि चेतन नहीं है किंतु इसका जो घटना बढ़ना है ये कहा होता है जब उसके साथ में चेतन होता है घटना बढ़ना तो फिर भी एक स्थूल प्रक्रिया है इसको दूसरे शब्दों में देखें कि जो सुख और दुख लक्षण चेतन का बताया गया तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सुख मेरे को यहां हुआ दुख यहां पर हुआ कांटा लगा शरीर में नहीं लगता है प्रतीति कहां होती है पैर में कांटा चुभा पीड़ा हुई कहां हुई पीड़ा पैर में हुई ना और पैर शरीर है जबकि सुख और दुख लक्षण माना गया है चेतन का चेतन का आत्मा का लेकिन प्रतीति हमारे को पैर में होती है सुख और दुख की अनुभूति लक्षण मानेंगे क्योंकि उससे आत्मा का चेतन का अनुमान होता है ये जो लक्षण है जैसे कि धुएं से अग्नि का अनुमान होता है तो धुआं लक्षण बनता है उसको लक्षित करता है किसी को लक्षण किसी चीज को लक्षित करता है इंगित करता है इंडिकेट करता है चिन्ह के रूप में वो चिन्ह लक्षण के लिए रूप में होता है कि हम पूछ सकते हैं अभी जीवित व्यक्ति के लक्षण क्या है जीवित व्यक्ति के चिन्ह क्या है जीवित व्यक्ति की परिभाषा क्या है इन शब्दों में हम लगभग एक ही बात को बोलते हैं तो सुख और दुख की अनुभूति ये चेतन का लक्षण है और हमें पैर में कांटा चुभा तो हमें क्या प्रतीति होती है कहा चुभा पैर में चुभा इससे बहुत बड़ी भ्रांति होगी ये बहुत बड़ा वो है कि दुख हुआ हमारे को पैर में कष्ट हुआ तो ये तो शरीर अनुभव कर रहा है जो कुछ और पढ़ा हुआ होगा विज्ञान पढ़ा हुआ होगा वो कहेगा कि नहीं यहां दुख हमें प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में दुख की संवेदना कहां हो रही है मस्तिष्क में हो रही है यहां नहीं हो रही है यहां से तो संवेदनाएं आगे बढ़ के वहां तक पहुंची हैं लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि संवेद प्रतीति हमें होगी कि यहां दुख हो रहा है क्योंकि रक्षा तो हमें वहां से ही करनी है वहां कांटा चुभा है तो वहां से पैर हटाना है वहां कंकर है अग्नि है तो वहां से हमें पैर हटाना है ये हमें पता लगना चाहिए ना कि यहां कांटा चुभा है तभी तो कांटा निकालेंगे वहां से ये ईश्वर की व्यवस्था है यूं मस्तिष्क में वहां संवेदना हो रही है लेकिन प्रतीति क्या हो रही है यहां हो रही है और इसको और दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो मस्तिष्क में भी अनुभूति नहीं होती क्योंकि वो भी जड़ है वहां ये चेतन को ही अनुभूति होती है अंततः अंततः सारी जितने सुख दुख की अनुभूति है वो चेतन ही करता है जड़ सुख दुख की अनुभूति नहीं करता तो इन चीजों से हमें प्रतीत क्या प्रतीति क्या होती है जैसे ये चेतन है घटने बढ़ने के अलावा इसकी सक्रियता देखिए शरीर की कितनी है हम चलते हैं फिरते हैं लिखते हैं चित्र बनाते हैं गाना गाते हैं बोलते हैं कितनी जटिल क्रियाएं हैं ये ये सामान्य क्रियाएं नहीं है एक दूसरे को देखना पहचानना ये सामान्य क्रिया नहीं है बहुत जटिल क्रिया है लिख लेना भाषा बोलना ये बहुत जटिल क्रियाएं हैं ये सामान्य नहीं है बातें जड़ की दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है एक जीवित व्यक्ति भी यदि मूर्ख हो या बुद्धि कम सक्रिय हो तो इन चीजों को समझ नहीं पाता है बीमार व्यक्ति पहचान नहीं पाता है जैसे हम पहचान पाते हैं बहुत रासायनिक और बहुत यंत्रों की सूक्ष्म क्रियाएं हैं तब जाके हमें ये पता लगता है बहुत प्रक्रिया होती है इन सबको देख के लगने लगता है यही चेतन है पर हमारी दार्शनिक दृष्टि से जो उत्तर है उसके अनुसार ये शरीर चेतन नहीं है शरीर में एक चेतन तत्व है आधुनिक दृष्टि से चेतन या जीव की क्या परिभाषा है वहां चूंकि शरीर से पृथक चेतन तत्व अभी स्वीकार नहीं किया जाता यद्यपि एक वो शब्द बोलते हैं जो कि जो ज्ञानवान है कॉन्शियसनेस चेतनत्व कह लें लेकिन वो वैसे चेतना को नहीं मानते हालांकि इस पर बहुत अनुसंधान हो रहे हैं आजकल ये विषय कॉन्शियसनेस आखिर ये कॉन्शियसनेस है क्या इस शरीर में ये चेतना है क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है विज्ञान के सामने नकार वो भी नहीं सकते क्या ये जड़ वस्तु ही सब कर रहा है या कुछ और है आखिर ये अनुभूति है क्या जड़ वस्तुओं की बहुत व्याख्या कर लेंगे मांसपेशियां इतनी हैं हड्डियां इतनी हैं ये रसायन है ये हार्मोन है ये बहुत सु कुछ कर लिया है लेकिन ये मस्तिष्क का अभी बहुत कम जाना गया है जो कि जड़ है वो भी और इसमें भी संवेदना जो है भय लज्जा शंका सुख दुख इत्यादि जो बहुत सारी संवेग हैं काम क्रोध लोभ मोह ये जो भावनाएं हैं ये बहुत जटिल चीजें और ज्यादा जटिल है तो कॉन्शियसनेस क्या है इस पर बहुत विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करता अनुसंधान कर रहे हैं अभी भी खोज में लगे हैं पर फिर भी वो उस तरह से चेतन तत्व को नहीं मानते तो वो सजीव और निर्जीव की क्या परिभाषा करते हैं सजीव कौन जो जो भोजन लेता हो भोजन लेता हूं खाना खाता हूं बाहर से कुछ लेता हूं ठीक है आहार आदि लेकर के जीवन चलाता हो बढ़ता हो ये लक्षण आप अन्य चीजों में नहीं घटा सकते लोहे में इनमें लकड़ी में इनमें नहीं घटा सकते ये कुछ लेते नहीं है बाहर से जो भोजन लेता हो पेड़ पौधे भी भोजन लेते हैं वो भी सजीव है जीव है जो भोजन लेता हो अब भोजन लेगा तो पाचन भी होगा ही साथ में यूं कहीं लेकर के तो रखेगा नहीं यू नहीं तो गोदाम में भी माल आता है और वो भी चेतन होने लगेगा दरवाजे से अंदर आता है ऐसा नहीं पाचन उसके साथ में जुड़ा हुआ है पाचन का मतलब है जो चीज हमने अंदर ली है उसका विभिन्न तरह से विभाजन होता है विघटन होता है सरलीकृत करते हैं उसको छांटते हैं और फिर उससे नई चीजें बनती हैं अंदर मांस बनेगा हड्डी बनेगी बाल और बहुत सारी चीजें बनेगी शरीर की तो विघटन होगा पचन का मतलब होता है उसका विखंडन अलग अलग तरह से विखंडन छटना फिर कुछ कुछ जो आवश्यक चीजें वो वो बनना और उससे ये शरीर का बढ़ना भी उसमें सजीव के लक्षणों में आता है फिर जब ये प्रक्रिया होती है तो मल भी बनता है कुछ अपद्रव्य अपशिष्ट पदार्थ भी होता है वेस्ट मैटर भी निकलता है तो वो मल निष्कासन भी करता है ठीक है उसके अलावा स्वसमान की उत्पत्ति करता है वो प्रजनन उसमें होता है भिन्न भिन्न तरह के प्रजनन है चाहे एक कोशिका टूट करके दो कोशिका बनते हो कैसे भी बनते हो लेकिन उसमें ये भी एक गुण देखा जाता है सजीवों के अंदर और उत्पन्न होते हैं मरते हैं ये प्रक्रिया वहां पर होती है ठीक है तो उस दृष्टि से देखें उनकी दृष्टि से तो ये शरीर चूंकि बढ़ता है तो वो सजीव ही उसको बोलते हैं पर अपने दार्शनिक दृष्टि से शरीर जड़ है चेतना के संयोग से इसमें ये विविध क्रियाएं जिसमें बढ़ना भी एक क्रिया है सम्मिलित होती है पीछे एक बार प्रसंग में शब्द बताया था कि संस्कृत में इसको एक तो शरीर कहते हैं एक देह कहते हैं और एक काय काया भी बोलते हैं काय भी बोलते हैं काया काया कल्प भी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएगी ये तेरी कंचन काया तो काया या काय ये किस बात को संकेतित करती है इन्होंने एक लक्षण बताया कि जीवित जीव वो होता है जिसमें चयापचय होता है मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म मेटा मतलब होता है दो एक होता है कैटाबॉलिज्म एक होता है एनाबॉलिज्म चय और अपचय उपचय नहीं अपचय चय कहो चाहे उपचय कहो ये उपचय या चय बढ़ने के अर्थ में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनाबॉलिज्म गलत बोल रहा हूं तो उल्टा बोल रहा हूं तो संशोधन कर देना और अपचय जो होता है वो कैटाबोलिज्म उसको याद करने के लिए उसमें कटता है <laughs> कैटाबोलिज्म कटता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपचय क्षीणता भी आती है तो इसका नाम शरीर क्यों रखा शीरियते इति शरीरम शरण को क्षरण को प्राप्त होता है शीर्ण होता है क्षीण क्षीर्ण होता है ये लक्षण इस शरीर में जब से जन्म लिया है तब से मृत्यु तक होता है हर क्षण क्षीण होता है हाँ अंतर है लेकिन इनके मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई हम तो बचपन से युवा होते जा रहे हैं अभी तो तरोताजा पुष्ट और युवा और दृढ़ होते जा रहे हैं हमारे में क्या क्षय है ठीक है आप में कोई क्षय नहीं दिखता है अभी लेकिन क्षय हमेशा होता है नया अधिक बनता है क्षय कम होता है इसलिए लगता है बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी क्षय होता है लेकिन क्षय अपचय कम होता है क्षय अधिक होता है युवा अवस्था में स्थिरता प्राय रहती है और वृद्धावस्था जब आती है तो क्षीण होते हैं वैसे बच्चे युवा भी रुग्ण होते हैं तो क्षीण होते हैं रुग्ण होने पे तो क्षीण दिखाई देते हैं ना एकदम बीमार हो गए पांच दस दिन में एकदम अंतर प्रतीत होता है स्वस्थ भी जो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है उसमें भी क्षय होता है सतत इसलिए शीरियते इति शरीरम नाम ही इसका शरीर रखा गया है साइंटिफिक नाम है या नहीं है नहीं शरीर की रचना वो इसको अपचय को जानते थे तभी तो शरीर नाम रखा उन्होंने अपचय अपचय सदा इसमें होता रहता है ठीक है विज्ञान की बात है व्याकरण में भी विज्ञान छुपा हुआ है देह है देह क्यों कहते हैं देह उपचय देह धातु है इसमें पाणिनि की वो किस अर्थ में है उपचय अर्थ में ये उपचय होता है बढ़ता है कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं एनाबॉलिज्म होता है ठीक है उपचय होता है और इसी तरह से काय शब्द भी जो है वो भी चीय धातु से बनता है चीय चयने चिन्हना बोलते हैं ना ईट चिंदी मकान चिंदिया चुनाई हो रही है चिनाई हो रही है दीवार चिन रहे हैं इत्यादि जो बोलते हैं वो चीय धातु है चीय चयन इसमें चयन होता रहता है चिन्ह चिन्हते रहते हैं तो ये जो देह काय शरीर तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों मिला के बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म चयापचय एक शब्द बोलो हिंदी में संस्कृत में चयापचय जिसमें चयापचय होता है वो शरीर होता है दोनों होने चाहिए अच्छा जिस समय वृद्धावस्था आती है उस समय क्षय अपचय अधिक होता है शीर्णता अधिक होती है लेकिन उसमें चय उनमें भी होता है प्रतिदिन चय होता है उनमें प्रतिदिन चय होता है क्षय कितना होता है मान लो मैंने यू मार दिया हमें क्या लगता कोई क्षय तो हुआ नहीं क्या क्षय हो गया आप ताली बजाओगे तो कुछ क्षय होगा या बढ़ेगा कुछ प्रसन्नता होगी ताली बजाते हैं ए इतना भी हमने मारा है ना इसमें सैकड़ों हजारों कोशिकाएं मर गई एक में लेकिन हमें कुछ पता नहीं लगता क्योंकि व्यवस्था ऐसी है लेकिन जोर से थप्पड़ लग जाए तो जोर से घुसा लग जाए तो थप्पड़ लग जाए तो वो कई बार होता है ना उंगलिया की उंगलिया छप जाती है लाल हो जाता है फूल जाता है और और अधिक हो तो बाद में वो नीला पड़ जाता है ये क्या प्रक्रिया है नाश की प्रक्रिया है आपने यू खुजली कर ली यूं इतना सा किया इतने में भी तो मर जाती हैं बहुत सारी लेकिन वो चिंता की बात नहीं होती हमारे लिए <laughs> क्योंकि वो तो बनती रहती है इतनी व्यवस्था है मरती हैं बनती हैं प्रतिदिन यानी आप करोड़ों की संख्या कह लो और भी ज्यादा कह लो करोड़ भी कम है खरबों कोशिकाएं हैं प्रतिदिन बनती हैं प्रतिदिन नहीं बनती हैं प्रतिदिन क्षय होती हैं ये सतत चलता रहता है इस शरीर के अंदर चयापचय चयापचय तो सजीव वो होता है जिसमें चयापचय मेटाबोलिज्म होता है केवल क्षय नहीं मरने के बाद में मृत शरीर में जो पड़ा है क्षीण होता है कीट कीड़े लग जाते हैं फिर उसको सड़ा देते हैं वो एक क्षय की प्रक्रिया तो जड़ वस्तु में भी होती है जड़ भी कैसे जो पहले सशरीर थे जो सशरीर थे यानी फल है सब्जी है जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं पहले किसी ने के शरीर रहे हैं वो उनमें ये सब प्रक्रिया होती है नाश की तो ये जो शरीर का बढ़ना है इतने मात्र से हम शरीर की चेतनता तो हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए आधुनिक दृष्टि से हम इसको सजीव मानते हैं चेतन मानते हैं उनकी व्याख्या ही ऐसी है उस दृष्टि से शरीर को चेतन कह सकते हैं सामान्य रूप से जो पढ़ाया जाता है उनका खंडन भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं देखो आधुनिक विज्ञान में इस शरीर को सजीव कहा जा रहा है वक्ता का अभिप्राय देखना है कि वो ऐसा मानते हैं और वो एक सजीव शरीर है जीव शरीर हम भी मानते हैं इतना तो ना ये इसमें और हमारे किसी मृत शरीर में इसमें या जड़ वस्तु में और इसमें तो हम भी तो अंतर मानते हैं इतना तो जड़ होते हुए भी इसमें भिन्नता है तो इतना मेरे ख्याल से समाधान आपको हो गया होगा किन्हीं को कुछ पूछना है इस विषय में जो हाँ जो नित्य वस्तु होती है नित्य मतलब मैं वैसे आपके इस वचन के भी ठीक है लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि जो नित्य वस्तु होती है जो घटती बढ़ती है विशेष रूप से मैंने चेतन के लिए कहा था लेकिन जड़ में भी घटेगा आपका प्रश्न वहां पर है कि प्रकृति घटती है या बढ़ती है अपने आप में घटती बढ़ती नहीं है वो बस उसके मिलने से विभिन्न चीजें बनती हैं बढ़ती नहीं है वो और विज्ञान भी मानता है जो मूल तत्व है मैटर है वो बिल्कुल निश्चित है इतना सा भी उसमें बढ़ा हुआ नहीं होता और न उसमें लेश मात्र भी क्षय होता है न्यूनता होती है विज्ञान भी मानता है मैटर या जो थिंग है न तो बन सकता है ना नष्ट हो सकता है जैसा है वैसा है हाँ परिवर्तित होता रहता है उसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं इस दृष्टि से प्रकृति भी जो कि नित्य है वो बढ़ती नहीं है बढ़ती नहीं है वो ऐसा और किन्हीं को कुछ पूछना अच्छा हाँ अंदर होती है जो इनका कहना है कि जो मूर्छित हो जाते हैं अपस्मार नहीं कहो अपस्मार तो एपिलेप्सी वो तो उस समय ठीक है अंदर से वो तो हिलते हैं कांपते हैं वो बहुत सारा है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम कोमा में चल जाते हैं कुछ नहीं ऐसा हो जाता है कई बार बिल्कुल मूर्छित हो जाता है आदमी कोई हरकत नहीं उसके अंदर थोड़ी सांस चलेगी हृदय चलेगा वो देखोगे तो वो तो पता लगेगा लेकिन यूं जानकारी उसको नहीं होती है बाहर से लेकिन अंदर आत्मा होती है उसके चेतन के जीवित अवस्था के लक्षण है कि सांस चल रही है या नेत्र की पुतली जो होती है उसका छोटा बड़ा होना होता है वो भी एक लक्षण होता है और हाँ? टॉर्च लगा के भी देखते हैं धड़कन देखते हैं धड़कन देखते हैं कहाँ देखते हैं यहाँ एक तो यहाँ देखते हैं अंगूठे के यहाँ पर नीचे पीछे वैसे हमारी जो धमनिया होती हैं शिराएं होती हैं नहीं धमनिया आर्टरीज वो शरीर नहीं नाड़ी तो शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है वो धमनी और शिरा दोनों के लिए प्रयोग होता है आर्टरीज और वेन्स दोनों के लिए और तंत्रिका तंत्र के लिए भी नाड़ी शब्द का प्रयोग होता है वो व्यापक शब्द हो गया धमनियां जो होती हैं जो शुद्ध रक्त को लेकर शुद्ध रक्त भी ना कहो हृदय से जो रक्त को लेकर के बाहर जाती हैं वो आर्टरीज वैसे शरीर के अंदर होती हैं लेकिन यहां ऊपर होती है ठीक है कुछ कुछ जगह दे रखी है झरोखा होता है ना जैसे पता लगाने पैर में भी जो हमारा गुल्फ होता है अंदर का जो होता है ना ये भाग ये अंदर वाला जो टखना होता है इसके बगल में यहां पर भी रहता है यहां रहता है ये ये जो बाहर निकला रहता है इसके बगल में आप यूं लगा के देखो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है यहां भी देख सकते हैं कुछ जगह ऐसे हैं जहां हमें एकदम पता लगता है इससे पता लगता है अभी वैसे ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है अनुसंधान का विषय बना हुआ है कि कब कहें कि ये व्यक्ति मर गया है विजयन प्रगति में देखा ना उसमें आपने वो लेख अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो पढ़े क्योंकि ये संदेह बना हुआ है कि हृदय के रुकने पे मृत्यु माने या मस्तिष्क के रुकने पे मृत्यु माने क्यों सोचने को मजबूर होना पड़ा कि जिनको उन्होंने मृत घोषित किया था वो जीवित हो गए रहस्य में कुछ अपवाद है लेकिन ये उनके लिए एक विचार का बिंदु बनता है कि हम ऐसा कौन सा लक्षण बनाए जो निर्दोष्ट हो कि मर गया तो मर गया बस घोषणा कर दी क्योंकि इससे विज्ञान पे भी प्रश्न खड़ा होता है ना कि आपने मरा हुआ कह दिया लेकिन जीवित हो गया तो ये एक विषय चल रहा है अभी पर हृदय और मस्तिष्क ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं तो मृत माना जाता है और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं जानकारी है उनके लिए बता देता हूं आपने देखा होगा कई बार आंख में आकर के भी देखते हैं आंख खोल करके उस पर टॉर्च डालते हैं देखा है ऐसा या तो फिल्मों में देखा हो डॉक्टर आता है वैसे तो प्राय ये देखते हैं यार स्टेथोस्कोप से यहां देखते हैं इससे पता लगता है सांस भी देखते हैं लेकिन आंख को भी देखते हैं वो ज्यादा सटीक है ठीक निर्णय देता है क्यों देता है कि जो हमारी आंख की पुतली जिसे बोलते हैं प्यूपिल बीच में एक छेद होता है सबसे छोटा उसके पास में और थोड़ा सा एक बड़ा सा होता है जो बीच वाला छेद होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है फोकस करता है वो एक तरह से छोटा बड़ा जब प्रकाश अधिक होता है तो अधिक प्रकाश अंदर ना चला जाए हानि ना हो ठीक दिखाई दे उसके लिए वो संकुचित हो जाता है छोटा हो जाता है और जब अंधेरा होता है तो फैल जाता है प्रकाश के कारण छोटा होता है वैसे फैल जाता है यूं करते हैं यूं तो पर ये एक प्रक्रिया है आप इसके लिए देखना प्रयोग करना कभी किसी को लेटा देना पहले और अंधेरे में एकदम प्रकाश नहीं हो रात खोल के पहले टॉर्च को यहां लाना फिर थोड़ा इधर ले जाना इधर लाना इधर लेना कभी आपको करके बताएंगे तो आप देखोगे वो फैलती है सकुड़ती होती है प्रकाश के कम ज्यादा होने से या तो सामान्य प्रकाश में आप टॉर्च का डालना वो सकुड़ेगी फिर फैलेगी ये तंत्रिका तंत्र से स्वतः होता है तो ये कब हो रहा है यदि मस्तिष्क चल रहा है तो ये होगा नहीं तो नहीं होगा इससे पता लग जाता है एक वो आंख वाले डिस्कवरी चैनल की थी सीडी वहां पर डीवीडी अजमेर में देखी थी आप में से पुराने जो होंगे आंख के बारे में पूरा था वो डीवीडी दिखाई थी ब्रह्मचारियों को तो ये एक लक्षण भी जीवित होने या मृत होने का रहता है आप भी पता कर सकते हो कि ये जीवित है या मरा हुआ है वैसे बेहोश होगा लेकिन पुतली फिर भी थोड़ा काम देगी उसको इसे आपने देखा होगा चिकित्सक के पास कई बार परीक्षण के लिए जाते हैं तो एक आंख में दवाई डाल करके बोले बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए बैठा देते हैं कई जने आपने गए होंगे आंख बंद करके बैठ जाओ तो कुछ तो दवाइयां सुन्न करने की होती हैं कीटाणुनाशन की होती हैं लेकिन उसमें एक ऐसी भी दवाई होती है जिससे मांसपेशी का जो सुपड़ना होता है ना ये समाप्त हो जाता है वो फैल जाती है पुतली अभी जो मैं बता रहा था प्रकाश से वो संकुचित होती है फैलती है वो औषधि डाल देते हैं तो फैली भी रहती है जो जानकार है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं कहीं तो बोल देना बीच में फिर क्या होता है जब चिकित्सक देखता है ना तो देखते समय वो एक प्रकाश डालते हैं यहां पर भी लगा के रखते हैं कई बार कई बार टॉर्च से करते हैं तो स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है प्रकाश डालते ही क्या होगा वो संकुचित हो जाएगा और संकुचित हो जाएगा तो चिकित्सक ढंग से देख नहीं पाएगा और प्रकाश हटाए वो फैल जाएगा तो बिना प्रकाश के देख नहीं पाएगा ढंग से तो ऐसी औषधि डाल देते हैं जिससे वो फैल जाती है फैली हुई रहती है वो निष्क्रिय हो जाती है ऐसी आप टॉर्च भी लगा रहे हो और वो संकुचित नहीं हो रही है तो अच्छी तरह देख पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसके बाद में सामान्य हो जाता है थोड़ी देर में घंटा दो घंटा तीन धीरे धीरे उसका असर समाप्त हो जाता है वो समान हो जाता है ठीक है और किन्हीं को कुछ पूछना है मंत्र पाठ